लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि उसमें जंग करना कैसा है आप कह दीजिए कि उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना उसके खिलाफ कुफर की रविश इख्तियार करना मस्जिद हराम पर बंदिश लगाना और उसके बासियों को वहां से निकाल बाहर करना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन चीज है और ये काफिर तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे यहां तक कि अगर उनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारा दीन छोड़ने पर आमादा कर दें और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन छोड़ दे और काफिर होने की हालत ही में मरे तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखरत दोनों में अकारत हो जाएंगे ऐसे लोग दोजख वाले हैं वो हमेशा उसी में रहेंगे